और इस वक्त सूर्य आराफ की एक सौ पचपनवीं आयत यानी वन फिफ्टी फाइव पेश खिदमत है इसमें अल्लाह ताला के मकाम को जो रिश्ता है बंदों से और फिर एक जालिया मामला है वो पेश कर रहा हूँ पढ़ो अंत वलियाना हम नावान तखैरुलबाकरीन मतलब तू ही है हमारा सामने वाला तो बख्श दे हमको और रहमत कर हम पर और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है असल में बात यह है कि ईमान बनने बेचार रखो खौफ और उम्मीद के दरमियान में आदत शरीफा की जनाब सरकार की जब किसी पर इतमान गालिब हो जाता है तो उसको खौफ की तरफ लाते और जब सब जब खौफ गालिब हो जाता है तो इतमान की तरफ लाते थे आज हमारी हालत यह है कि जिस पर खौफ तारी उसको और खौफ लगा करते हैं और जिस पर इतमान तारी है उसको और नहीं कर देते हैं इसी जज्बा ने लिखा है तेरा बैग को सुकून है ये सुकून है या फसू है तेरा बैग को सुकून है ये सुकून है या फसू है न निहंग है न तूफा न खराब ये तुम्हारा हाँ। इलाजैश को सुकू है ये सुकू है या पशु है न निहंग है न सूखा न खराब ये जनारा फिर लिखता है इसी यानी ये परमुर्दगी और ये ठहराव में कैसे तब्दीली पैदा हो तो लिखता है खुदा तुझे किसी तूफा से आठ ना खुदा तुझे किसी तूफा से आठ ना कर दे जो तेरी बहन की मौजों में इश्तराब न खुदा तुझे किसी तूफा से आठ ना कर दे कि तेरी बहन की मौजों में इश्तराब नहीं फिर आगे समझाता कि तमन्ना करके तो दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की तमन्ना करके दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की नहीं मिलती ये दौलत बादशाहों के खजीनों में हम्म? तो अब इसके सबूत में लगी तो उधर वाला तो मामला आप सुनते चले आए देखते चले आए इतमान वाला मामला सुन लीजिए एक सहाबिया है बेटा शहीद हो चुका है और बहुत नाश कर रही है जबकि फरमा सल्लल्लाहु अलैहि कहा दिया शहीद होने वाले बेटे पर नाज कर रहे हैं क्या कमी है दूसरी हदीस क्या जाती है ये रहा दूसरी हदीस क्या जाती है अल्लाह तला तुम्हारी नियतों को देखता तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता जब मोहर नाच करते हुए देखा तो हजूर असलम बहुत सुनिएगा हजूर असलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को हजूर असलम सल्लल्लाहु अलैहि ने पूछा ये तुम किस बात में नाश कर रही हो सुना आपने अगर तेरा बेटा बहादुरी के लिए जिहाद में शरीक हुआ तो जहन्नम में जाएगा जन्नत में नहीं जाएगा तुझे अपनी बेटे की नियत कैसे खबर हो गई देखा आपने निकाल दिया इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ खासकर ये जो तबलीगी मामला सामने रखे हुए हैं कि भाई अंदाजा करो बाईस नुकात बयान किए हैं मोबाइल हसना में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तबलीग के सिलसिले में उसमें से एक नुकता ये भी फरमाते हैं कि इस बात का उसकी शख्सियत से अंदाजा करो कि तुम्हारी नसीहत को किस दर्जे तवजे से सुन सकता है और क्या हाँ। और हम जबान उठा लो तालू से लगा दी और कुरान क्या कह रहा हूँ दू इला सभी रबी सबिल हिकमत की والموت الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن उदो दावत दो बुलाओ बिलहिकमत और हिकमत के मुताबिक पहले भी अर्ज था कि हिकमत एक मोमिन की गुमशुदा दौलत है जहाँ की मिले ले ले गम है मताए दो वतन शुक्र कर कबूल जिससे मिले जहाँ से मिले इस कदर मिले इधर आ हिकमत मोमिन की गुमशुदा दौलत है जहाँ से मिले ले ले गम है दो मतलब शुक्र का सबूत जिससे मिले यहाँ से मिले जिस कदर मिले हजरत अली वजह का कोई गिरामी आ जाता है फरमाते हैं कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है ये देखो कि क्या कह रहा है अल्लाह ये न देखो कि कौन कह रहा है ये देखो कि क्या कह रहा है तो अंता वली ना तो चौकाया हजूर अजम सल्लल्लाहु अलैहि ने वो सहाबिया को जो अपनी शहीद देखे पर नाच करके सहाबिया है बेटा शहीद हो गया है उस पर नाच कर रही हालांकि बसरियत नहीं रोना धोना चाहिए मगर हजूर की तालीम और तरबियत चाहिए असर के नाच कर रही है मगर नाच आगे बढ़ गया हद से जो बात बढ़ी उसकी खराबी आई हद से जो बात बड़ी उसकी खराबी आई वो फर्श पर लेट लौटते हैं यार के ये तो कैसे तो अब मालूम ये हुआ कि न बाजमाना बेसाजो न बाजमाना सदे चले कि कदम भी जो डगमगा न सके जो बार बार कुरान ने की है कि हद से निकल जाने वाली अल्लाह को पसंद नहीं है तभी खैर होता बैलेंस दे जिंदगी की रहने चल लेकिन जरा बदबत के चल ये समझ ले जैसे मीना खान अखबार दोष है तो हजूर ने फरमाया कि ईमान जो है वो बैनर जाए बल खौफ है खौफ और उम्मीद के दरमियान में है उन सहाबिया को जो अपने शहीद बेटे पर नाश कर रही है आखिर ये कहकर चौकाया चौंकाया कि तुझे क्या अपनी बेटे की नियत का भी पता अगर वो बहादुरी के लिहाज से लिहाज में शामिल हुआ है तो जन्नत में नहीं जाएगा जहां में जाएगा और दूसरा मौका याद आता है कि सहाबी गले चले जा रहे हैं मारे खौफ के तो उनको इतमान दिला रहे हैं कि अल्लाह तला रहीम और करूंगी है देखा ना चुनाव की हदीस की तस्वीर करते हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रमत फरमाते हैं कि ईमान बहने रिजाल और खौफ है फरमाते हैं खौफ तो ये है कि अगर आसमान और जमीन के दरमियान जितने जर्दात है अगर इतने हमारे हसनाओं पर भी समझे के मौला पकड़ सकता है इसी को खौफ कहते और इसी खौफ की बिना पर सैदना सिद्दी के अकबर फरमाते हैं मुजद्दी दस्तानी और ने अहमद नहीं नकल फरमा रहे हैं कि सैदना सिद्दीक अंदर फरमाया करते कि वल्ला बिल्ला अगर कोताही अमन की वजह से कोई पकड़ा जाएगा तो अबू बकर के अलावा दूसरा आदमी नहीं होगा और खुदा खुद के अमान का चालू में जवाब इस कदर जुर्म किए है कि मुझे याद नहीं मुझसे गुनाहगार से ये बारिश कर मुझसे गुनाहगार से ये बारिश कर मुंह तक रहा हूं देर से नजारा साथ कर और फिर दूसरा ऐसा हदीस का फरमाते शेख अब्दुल कादिर जिला में और रिजा यानी उम्मीद यह है कि अगर इतनी माफियतें अगर इतने गुना और अगर इतनी लफ्जिशें हों जितने आसमान और जमीन के दरमियान में जरात है तो ये समझे कि फिर भी खुदा बख सकता है जब इसके मिजाज सैदना उम्र फारूक ठहराए जा रहे हैं तो फरमा रहे हैं वल्ला बिल्ला अगर कोताही अमल की वजह से कोई जहनम में जाएगा तो सबसे पहला शख्स उम्र होगा इसे कहते हैं खौफ और उम्मीद ये फरमा रहे हैं कि खुदा खत्म अगर अल्लाह ताला के रहम करम की वजह से कोई जन्नत में जाएगा तो उम्मीद है जो पहला शब्द भी वही होगा तो आपने गौर किया ऐसा वो बती हकीकत है कुब्र की उसका जो रस्म ने जिसे ईमा बना दिया तो अंता अल्लाह हाजिर है मगर अगर हाजिर समझा जाए मैं नहीं समा सकता आसमानों में नहीं समा सकता जमीनों में अगर समा सकता हूँ तो मोमिन के कर्ज में समा सकता हूँ और जो समा कहा कि वो सब को तो पा सकती अजो जो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके और मेरा ही ये दिल है जहाँ तू समा सके तो अंता वली वली ना गर्द अंता लफ्ज तू जो है वो इंतहाई ताल्लुक का इजहार करता है इसीलिए अल्लाह के सिलसिले में बाद बुजुर्गों तो ने लफ्ज तू ही का इस्तेमाल किया है ना आपका इस्तेमाल किया है न जनाब का इस्तेमाल किया है न साहब का इस्तेमाल किया है ताकि शिल्प का कोई पहलू जो है वो पैदा ना हो बढ़िया बढ़िया शिल्प का कोई पहलू पैदा ना हो इसलिए लफ्ज सू का इस्तेमाल किया है न था कुछ तो होता था और ना होता तो खुदा होता बिताया मुझको होने में न मैं होता तो क्या होता अच्छा ये एक सौ पचनवी आए है सूर्य आराफ की आराफ आराफ वो जगह है जहाँ हदीस में आता है मुशरक मुनाफिक और काफिर के बच्चे रखे जाएंगे जो गाली होने से पहले मर जाएंगे लगभग खड़क में इंसान हसी अहसन तकनी मुझों पर दाव देते हुए ये इजाजादारी मुसलमान होता है जो ईमान समझते हैं कि ये आयत हमारे लिए आई हालांकि बिल्कुल फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा किया जाता है और उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं नसरानी बना देते हैं मजूसी बना देते हैं तो मालूम हुआ कि ये मुसलमान की जायदारी कि हमारा भी बच्चा आपके करके इस्लाम पर पैदा किया जाता है या बस ये बेकार और खुशहाली तो जब वो पानी होने से पहले बच्चा हो या बच्ची लड़की हो या लड़का इंतजार कर जाएगा तो वो आराम में रखा जाएगा और आराम के करीब हजूर ने फरमाई जन्नत जैसा आराम नहीं है और दो जैसी तकलीफ नहीं है मौलाना फरमाते हैं रफ या अपुर कि आराम परिस्तर अरे दो दोजकियों से पूछो कि उनके लिए आराधी जन्नत है जन्नत से क्या पूछो तो अंका इसलिए इस्तेमाल किया ताकि कोई शुबा कोई और रात कोई और बात बाकी न रहे दूसरी इस आदत का पता कुरान से चलता है जब रात को अल्लाह ताला जाहिर करना चाहता है इन्नी का लफ्ज इस्तेमाल करता है और जब सिफात इजहार करना चाहता है तो इन्ना इस्तेमाल करता है हम तो इनमें जात में कोई ना शरीक हो तो इनकी आलम मालक आलम जो मैं जानता हूँ वो कोई नहीं जानता इसलिए जो जात को यहाँ दिखाना है प्रोजेक्ट करना लोग इधर हो नहीं करते और जब इन्ना का मामला है इन्ना आप इन्ना कर तो हमने कौशल रहता कि यानी हमारी सिफात का आहाता नहीं हो सकता लेकिन जात का आहाता तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता इसलिए अजीत माया है कि जो मेरी किताब के बारे में गौर करेगा वो राहत पा जाएगा और जो मेरी जात के बारे में गौर करेगा गुमराह हो जाएगा इसीलिए एक बात को समझाया है अकबर ने लिखा है कि तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता मैं जान गया कि तेरी पहचान नहीं है हाँ, हाँ, हाँ। तो अंत तो تولي لنا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين انت वली हमारे सामने अल्लाह वली कहते हैं दोस्त को अगर पैसा फरमाते हैं दोस्त उसी को रखोगे जिससे राजी होगे और राजी उसी से होगे जिसको दोस्त रखोगे वली कहते हैं दोस्त को दुनिया कुरान कर रहा है अल्लाह वली लवी नाम अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का निकाल निकाल लाता है अंधेरे की तरफ तो इसका मतलब अगर इंसान अंधेरे से उजाले की तरफ ना आए तो अल्लाह ताला ने उसे दोष नहीं रखा है जैसा ना आपने ये पहचान और आपको खुद बता रहा अंत होना तू मेरा दोस्त है मुझे अभी है कि मैं इंसान के गुमान के करीब जैसा गुमान करेगा वैसा ही उसके साथ मामला किया जाएगा दूसरी हदीस बड़ी चौका देने वाली है कि तो बंदा तो रबी रबी को पुकारता है मेरे रब है मेरे रब है मेरे रब और अल्लाह पुकारता है अवधि अवधि अवधि हर वक्त है मेरे बंदे है मेरे बंदे है मेरे बंदे इस सिलसिले में एक बात बड़ी चौंका देने वाली है रिवायत में आता है अल्लाह यात्रा जरूर बताती में लिखते हैं एक मुश्किल अस्सी बरस की उम्र है दस बरस की शौरी उम्र कहलाती है तो उसमें बुध शुरू की होगी जब उसे ऐसी जरूरत पेश आई उसी तरह हल्दी होती थी तो वो बुतों के आगे जलाया है लेकिन कुछ मामला बना नहीं तो उसने सोचा कि मैं सत्तर बरस बुध की है मैंने तो सत्तर बरस गिर गिरा के देखो मगर बकौल गालिब कि तुम तो बुद्ध हो तुम्हें दिलदार खुदाई क्यों तो। तुम जो तो बुद्ध हो तुम्हें दिलदार खुदाई क्यों तो है तुम खुदावन भी कहना खुदावर सही फिरोज ने अपने को खुदा जाहिर किया मगर उसकी इतफाक तो नहीं पैदा कर सका चुनाचे एक हिंदू लिख रहा है मुनके हजार बार खुदा से हुआ बसर मुनके हजार बार खुदा से हुआ बसर और एक बार भी बसर से खुदा ही ना हो सकी मुनकी हजार बार खुदा से हुआ बसर एक बार भी बसर से खुदा ही ना हो सकी और ये किराती में एक नवा और पाकिस्तान में चली है मौलाना कौम ने छोटा छोड़ा है कि आप खुदा हाफिज को कहते हैं इसलिए खुदा का लफ्ज जो है वो कुरान में नहीं आया अल्लाह हाफिज का है क्योंकि उर्दू बोलना छोड़ देना चाहिए उर्दू कहाँ कुरान में और अरबी बोलना चाहिए ये सब जहनी उखाड़ का है इसका कोई नतीजा नहीं हजरत बहुत अली शाह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने खुला को बहुत कायल माकूल किया तो उन्होंने हंस कर कहा कि फिर तुम क्या हुए तुम नामाकूल हो गए वो कायल माकूल हो गया तो उस दिन से उन्होंने बहस करना छोड़ दी ये लफ्जी उखाड़ कथा है हालांकि मौलिया ने कहो नातहीन को वाजीन को ये कहना चाहिए था कि अखलाक दुरुस्त करो अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि अल्लाह के बजाय खुदा क्यों इस्तेमाल किया मगर ये जरूर पूछेगा ये जरूर पूछेगा कि अखलाकी हालत दुरुस्त की हजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं तकमील अखलाक मैं तकमील नमाज के लिए आया हूँ तकमील हज के लिए तकमील रोजा के लिए तकमील जक़ात के लिए मगर फरमाया तकमील अखलाक के लिए आया देखा ना आपने तो अब ये छोटे छोड़े जा रहे हैं इसका मतलब ये कि जिन्होंने खुदा का लफ्ज इस्तेमाल किया है गाद का लफ्ज इस्तेमाल किया वो कोई नौजिल्ला देवी देवता है खुदा नहीं ये बात ये कहना चाहिए थी कि लफ्ज अल्लाह का इस्तेमाल दादा ऐसा बरतर और सही है खुदा के मुकाबले में इसे अलग बात हो गई तो वहां उसकी नफी नहीं हुई और अल्लाह की अजमत जाहिर हो गई है तो मैं कर रहा था आप देखिए इस बात नुजर बताती हूँ जो छठी सदी हजरी के मुहर मुहदस से मुफसर है मक्के में गुजरे हैं वो अपनी किताब नजरुल बसाती में लिखते हैं कि जब सत्तर मरतबा गिर रहा है तो भी कुछ नहीं निकला उसने कहा कि ये भगवान का नाम सुना है अल्लाह का नाम सुना है पालन पालनहार मिर्जा मदर जानदाना अरब का तर्जुमा पालन हार कर रहे इसका मतलब वो भी निकल गए उन्होंने अल्लाह क्यों नहीं कहा अरे भाई तर्जुमा तो तर्जुमा है ना तो उसने कहा कि भगवान का नाम सुना है पुकार के देखें इधर उसने पुकारा और उधर जवाब मिला है मेरे बंदे मुझे आप ही को हैरानी नहीं है रिवायत में आता है कि फरिश्ते हैरान करें अरे अभी तोबा हमने तो पुकारता तो, सुख होता कि नहीं रुजू करता अपनी पिछली जिंदगी को खुराफात समझता और ईमान में दाखिल होता फरिश्तों को जब हैरान देखा तो अल्लाह ताला ने पूछा फरिश्तों तो हैरानी का है परवरदिगार एक परत मुझे पुकार रहा है और तूने कहा है मेरे बंदे यानी सीधा सीधा मेरे बंदे का व्यवस्था करवाया सबसवारों को ताला ने और फरिश्तों से पूछा कि जब इसने बुद्धों को पुकारा था तो क्या हुआ था तो फरिश्तों ने कहा बुद्ध भला जवाब देने वाले हैं तो ताला जवाब दिया क्या मैं भी बुद्ध हो जाता क्या मैं भी बुद्ध हो जाता है तुम तो बुद्ध हो तुम्हें जिंदा है खुदाई तो है अरे तुम खुदावन ही कहलाओ खुदा और कहे फिर दूसरा हिंदू लिखता है अल्लाह की इस बात में कि खुदा बंदा ने दुनिया का तकबर हिट है जिसमें देखिए अखलाक का दस दे रहा है खुदा बंदा ने दुनिया का तकबर हिट है जिसमें अरे खुदाई क्या करेंगे जिससे खिदमत हो नहीं सकती <laughs> पहले तो खिदमत करके दिखाओ खुदा बंदा ने दुनिया का तकबर हिट है जिसमें खुदाई क्या करेंगे जिनसे खिदमत हो नहीं सकती और वो फिर इसे पढ़ लेता हूँ आजाद का मुझे गिला है ये हमत करो दुनिया से कि बुराली तो बहुत है कलंदरी अच्छा तो अल्लाह अच्छा और दूसरे ये तो कुरान ये कह रहा है कि तुम ये कहो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अगर मैं ये कहना कि अल्लाह मेरा दोस्त है तो तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कुरान ये कह रहा है अल्लाह ये कह रहा है कि तुम कहो कि अल्लाह मेरा दोस्त है इस, इस बात को जरा समझने की कोशिश करें वो फिर आगे फरमाते हैं कि दिन तुम अल्लाह को पुकारते हो मुठी में पुकार सही ना हो जवाब न दे लेकिन रात भर तुमको अल्लाह पुकारता है तो एक मकान है उसको खटखटाओ दरवाजा खोले या ना खोले लेकिन जब कि मकान खुद दरवाजा खोले बैठा तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो फरमाते रात को अल्लाह पुकारता है अब वो उस हेलमत में और उसके पास जाने में कोई कसर बाकी नहीं है जिसको एक बार लिखता है कि हो रोनी हो राजी हो गिरानी हो कुछ हाथ नहीं आता प्यार सहरकाई इसीलिए दूसरा कोई याद आता है कि शब्द जो है वो अहले दुनिया के लिए फराक है और अहले दिल के लिए विशाल है देखा ना अच्छा अंत बली होना तो ये कितनी बारीक बात है कि अल्लाह ये कह रहा है कि मैं तेरा दोस्त हूँ तू मेरा दोस्त है दूसरी बात समझ लीजिए गुरु से नकीरें मुल्की नकीर सवाल करने आए उन्होंने कहा बेकार और ये सचपन दूसरा शख्स देख रहा है बली जो है बेकार हजार मरतबा मैं ये कहूँ कि मेरा खुदा है या अल्लाह है उसने ताबत से कि वो ये ना कहते कि मेरा बंदा है तो मेरे कहने से वो मेरा अल्लाह नहीं होगा ताबत से कि वो ये ना कहे कि मेरा बंदा है इसी बात को गालिब सामने रखते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर फरमाते हैं कि तोहहीद तो ये है कि खुदा हाजिर में कहते हैं तोहहीद तो ये है कि खुदा हाजिर में कहते हैं ये बंदा दो तो आलम से खबा मेरे लिए है हाँ, तोहहीद तो ये है खुदा अगर में कह दी ये बंदा तो आलम से खपा ये है ये सहाबी को बशरियत गालिब आ गई उन्होंने एक शख्स को कतल कर दिया ये गुरु के साथ थे और कत्ल यूँ कर दिया कि जब ये खबर पहुंची हजूर को जमात ने शिकायत की कि ये सरदार जो थे उन्होंने कत्ल कर दिया उस शख्स को भी ये कहता था मैंने कलमा पढ़ लिया और ये कह रहे थे कि तू ये डर से कलमा पढ़ा और मैं तुझे कत्ल कर दूंगा तो नाम कत्ल कर दिया हजूर को नाराज नहीं होना चाहिए था हजूर नाराज हो गए नाराजगी का इलाज किया और फरमाया कि तुझे ये कैसे मालूम हुआ कि उसे से नहीं पड़ रहा था क्या तू उसके दिल के अंदर घुस के देख रहा था अंग्रेजी में कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट मुस्लिम को सुबह का मामला दिया जाता है और बार बार सुबह की वजह से छोड़ दिया जाता है इसे बेनिफिट ऑफ डाउट अंग्रेजी में कहते हैं तो सुबह में जब मुस्लिम छूट जाता है तो ये हजूर की सुन्नत अल्लाह की सुन्नत है कि हजूर ने उस शादी से सवाल किया कि क्या तू उसके अंदर दिल के अंदर घुस के देख रहा था कि वो डर की वजह से लंबा पड़ रहा था तो उसे उन शादी को संदेश की तो कितनी बारीक बात है अंता मरी होना तू मेरा दोस्त है यानी अल्लाह ये कह रहा है कि तू ये कह तू ये समझ तू ये यकीन बिठा ले अब कुछ कसर मैं ये कहता कि अल्लाह मेरा दोस्त है दूसरी तरफ हजरत अतार रहमत एक बागी का कौन नकल कर रहे हैं कि वो रात को उठकर कहती किया अल्लाह कुछ नस्बत कुछ मोहब्बत की कसम जो खुद को मुझसे आका की आंख खुल गई कहीं ही क्या बकवास कर रही उसकी मोहब्बत की तुझे कैसे समझ लू है कि उस मोहब्बत की कसम जो मुझको तुझसे है कहा आका तुम्हारी बात समझ में नहीं आई वो लौटी थी मगर साहब मकान थी मगर आका भी हरदम नहीं था उसने कहा अच्छा, समझा दे कि तुझे ये कैसे मालूम कि वो तुझसे मोहब्बत करता है कहा आका बात यह है कि तुझे सुझाता है और मुझे जगाता है इसलिए मैं समझ गया मुझसे मोहब्बत करता मुझे सुझाता है मुझे लगाता है इसीलिए आपने देखा तो जब ये अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम ऐलान कर दो तो कितनी बड़ी बात है तो गालिब के कलाम में गहराई नजर आती है इकबाल के कलाम में फलसफा नजर आता है मगर कोई चीज नजर नहीं आती तो कुरान में नजर नहीं आती इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे बड़ा अफसोस है लोगों पर जो ये कहते हैं पहले मजामी पढ़ो फिर कुरान पढ़ो तो मजामी पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे दो चार बरस के बाद मर जाओगे और लोग लाद के तुम्हें दफन कराएंगे मैं ऐसे कुरान का पायल नहीं तो मैं ऐसे कुरान का पायल नहीं जो ये कहते हैं कि पहले मजामी पढ़ो फिर कुरान पढ़ो मैं खुद कुरान का पायल हूँ कि पहले कुरान पढ़ो फिर मजामी पढ़ो इसलिए कि मजामी कुरान में शामिल है कुरान मजामी में शामिल नहीं है जिसको एक बार लिखता है कि काफिर की ये पहचान है आप आप में गुम है काफिर की ये पहचान है आप आप में गुम है और मोमिन की ये पहचान है गुम उसमें है आप ऐसा नाम इसको फिर लिखता है बार के खोया रजा सनम कर रहे कायनात में अरे महफिल गुदार गर्मी है महफिल न कर कबूल और उन्होंने अगर अजल से कहा जिब्राइल ने जो अकल का गुलाम को वो दिल न कर कबूल अच्छा अंत वलियुना बंदों से अल्लाह ताला ये कह रहा है अच्छा आप इसे जोड़े तकलीफ समझेंगे तभी सुनिए फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान पढ़ा करो तो ये समझा करो कि तुम पर नाजिल हो रहा है अब क्या फरमाएंगे आप चुनाव के सिलसिले में बहस करते हुए बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि इससे इस गलत है में न जाना कि वाकई तुम पर कुरान नाजिल हो रहा है इसलिए कि ये तो नाजिल हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस का मतलब यह है कि तुम कह रहे हो अल्लाह ताला तुम्हें रहा है दूसरे हदीस में फरमाया हजूर अकम सल्लल्लाहु अलैहि ने जब अल्लाह ताला से बातें बातें करने को जी कहा करे तो कुरान पढ़ा करो देखा तो वो तो आपने सीधी हदीस याद आई फरमाया हजूर अकम सल्लल्लाहु अलैहि ने कि कुरान का एक मौजूदा कल था आज है आइंदा बाकी रहेगा कि जितना इसमें डूबते चले जाओगे तुम पर खुद का हुआ चला जाएगा हाँ। मैं दो राहू पिघलने दो मुझे राज हूँ और खुद भी शर है राज हूँ अच्छा वली होना बाजी की समझ गए अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम ये समझो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अब इससे ज्यादा और क्या होगा अंतर वली होना कम फिर रहना है और जब तुम दोस्त हो गए तो दोस्त हाँ बासत के गिर दस दोस्त दर परी परेशान हाल हो दरमान की हम कहाँ खड़े हैं तो वाक्य सुन लीजिए एक साहब ने शुरू शुरू पार्टी पढ़ना सीखी तर्जुमा तो इसका ये है जो नहीं समझ सके कि दोष वो है जो दोष को हालत मजबूरी या तकलीफ में पकड़ ले वो साहब तो जा रहे थे बाजार में एक आदमी पिट रहा था उसको उसके हाथ पकड़ लिए और पिटा और वो दोस्त था तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करता है कहा कि साजी साहब ने कहा है कि दोस्त हाँ वाटक के लिए रंग करता है परेशान लव दरमान की परेशानी और उसमें अलम और गम के हालत में उसके हाथ पकड़ इसलिए मैंने हाथ पकड़ लिया तेरा वहाँ हाथ पकड़ने से मुराद मदद देना है देखा ना आपने इसीलिए दिगर ने इकबाल ने खबाओं पर लिखा है कि उनसे मिलने को तो दिगर ने लिखा उनसे मिलने को तो क्या चाहिए दिगर अरे खुद से मिलने को जमाना चाहिए और इकबाल लिखता है कि क्या करेगा वो किसी और का पैदा होकर जिसने अपने को न समझा कभी अपना होकर अंग्रेजी में कहते हैं friend in need is friend indeed वो दोस्त जो मुसीबत में काम आए हकीकत में वही दोस्त है जिसका तुम पुराना अंत वली गुना फफिलना और जब तू मेरा दोस्त है तो माफी कर दे अल्लाह ताला सिखा रहा बंदे को जरा आप क्या तो फरमाइए हद हो गई तो माफ कर दे माफी कहा सुनिए फरमाया हजूर आजम सल्लल्लाहु ने मिजाज इलाहिया की खबर देते हुए कि अल्लाह ताला कहता है कि अगर कोई दिन में सत्तर मरतबा एक ही गुनाह करे और हर बार मुझसे माफी मांगे तो मुझे माफ करने वाला पाएगा मेरे गुनाह ज्यादा है या कर्म उसका गुनाहगार गुनाहों को भी शुमार करे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि रोज हज ये नहीं पूछा जाएगा कि इबादत क्यों नहीं की सबसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि इतनी मोहलत दी थी तोबा का एक मरतबा भी फैल नहीं आया वो कौन है जिन्हें तोबा की बिल गई फुर्सत वो कौन है जिन्हें तोबा की मिल गई फुर्सत यहाँ गुनाह भी करने को जिंदगी कम है वो कौन है जिन्हें तोबा की मिल गई फुर्सत और तोबा की एक तसी सुनी है जिसमें तो अभी अल्लाह ताला का मामला मालूम होता है जब आदमी तोबा करता है तो जाहिर है कि वो तो कबूल हो गई इजाफी मामला सुनिए कि जितनी उम्र उसने नाई आई और मासीत में गुजारी है सब उसको सवाब में शामिल कर देगा हाँ। तो फिर है ना अच्छा और जब तू मेरा दोस्त हो गया तो मतलब है तो बस मुझे के मुझे फरमाते हैं कि जब तक मैं अल्लाह अपने साथ हूँ जो सबसे अदना हूँ और अल्लाह के साथ हूँ सबसे आला हजरत बहाउद्दीन नकमंद रहमत फरमाते हैं कि काफिर मैं जरूरत हना के फनानी गोयत काफिर मैं जरूरत हना के फनानी गोयत का खुदा हस्त मार कमा हस्ते काफिर मैं जरूरत हना के फनानी गोयत का खुदा हस्त मार कमा हस्ते हजरत बहाउद्दीन नकमंद फरमाते हैं कि काफिर है जो कहता है मैं तना अरे मैं लापानी से लग गया तो मैं भी लापानी हो गया अगर बहुत ही अच्छा तो फिर देखिए सोना और फिर कसौटी दे दी क्या मतलब तुझे यकीन है तो फिर मेरे हाथ आगे हाथ फैला दे हेलो हेलो आगे हाथ फैला दे और तो फिर लेना और बरहमना हाँ और रहम कर मुझसे गुनाहगार से ये बारिश कर्म मुंह तक रहा हूँ देर से नजर और का दूसरा लतीफा सुन लीजिए हजूर तो लालबीन है जाहिर परसों मतलब परसों ने ढंके बजा दिए मगर हजूर रहमतुल्लामीन हुए कैसे सवाल तो ये खुदा के कसम अगर रबुल आलमीन अल्लाह आलमीन होता तो हजूर रहमत आलमीन ना वो रबुल आलमीन है हाँ। तो हजूर रहमत आलमीन है रहमत आलमीन ना वो रबुल आलमीन है हाँ। तो हजूर रहमत आलमीन है अल्लाह रब आलम और तुम हो रहमत आलम बस इतना जानते हैं और खुदा जाने की तुम जाओ यादा का सफेद तो यादा गया खुदा है रब आलम और तुम हो रहमत आलम और हदीस सुनिए फरमाया हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला देने वाला है मोहम्मद बांटने वाला है न मिलेगा तो बचेगा तो कैसे आपको तो सोचिए लगाने में लगाना होगा तो बचेगा ना तो फरमाया अल्लाह देने वाला है मोहम्मद बांटने वाला हम तो हम तपास को हुक्म समझते हैं हालांकि उसे सिफारिश करते हैं और दूसरी गलत है कि हम समझते हैं कि शबाज का तेरा सिर्फ हजूर के तक बनेगा वो तेरा हजूर के लायक होगा फिर तेरा बनेगा एक लाख चौबीस हजार है फिर फरमाया कि मेरा अजना उम्मती मकाम सफा अंतर खड़ा किया जाएगा हदीस में आता और फरमाते हैं आगे छोड़ नहीं दिया फिर मुझको जाहिर किया है फरमाया कि वो अजना उम्मती होगा जो के कुरान भी होगा और कुरान से अमल भी करता होगा पहले तो उस माँ बाप का इजाजत लीजिए उसके उन दोनों माँ बाप को ऐसा कार्य पहनाया जाएगा जैसे सवा नीचे पर सूरज उतर आया और फरमाया जानते हो हाफिज का क्या मकाम होगा वो चुन कर ऐसे सात आदमियों की सिफारिश का इख्तियार दिया जाएगा कि जिसका फैसला अल्लाह तला ने लिख दिया होगा जहनमी होने का अपने फैसले को कलम कलमबद्ध करके उन्हें सिफारिश से जन्नती बना देगा मुझे तो उन्हें बख्शा गुलामी कटा मुझे तो उन्हें बख्शा गुलामी कटा तेरे से सफा हर सफा तो फिर फसल लेना और वहां भी कर दे और मेरे कर हाय हाय मेरे दादा का खेल है मुझे तो नाक है कितना कर्म साथ ही मुझे तो नाक है कितना कर्म साथ ही मेरे लिए तो कभी इस्तीफा नहीं ना मुझे तो नाक है कितना कर्म पिता दीजिए मेरे लिए तो कभी इस्तीफा नहीं ना हुई और न्यूज में लिखा है आज कितनी पार्टी से लिखा है न्यूज बंदों के काम कब निकला है अरे मांगना हो ये कुछ खुदा से और मांगने वाले कैसे हैं ये सब कुछ तो मैंने मांग लिया कुछ को मांग कर उन्हें नहीं है हाथ मेरे के दुआ के बारे अयार के सिलसिले में जब बड़ा मामला बढ़ गया तो एक दिन जमा किया महमूद ने और कहा कि इसे तोड़ दे इसे तोड़ दे इसे तोड़ दे तोड़ दिए चीजें महज किसानों तोड़ दिया या चीजें तोड़ दी दीजिए लोगों से पूछा कि भाई मैं अगर किसी वजह से होश में नहीं था तो तुम्हें तो होश था इसकी कीमती कीमती चीजें दे दो कहता वापी ने तो कहा था अजाज से पूछा कि भाई तुम्हें क्यों तोड़ कहा पता हो गई जाने रहमत के लिए ही बत्तीस मिल जाए और बात इतनी है कि हो जाए प्रतिमा गुनाहों ने भला सबका भी ईमान रखा था मगर रहमत के सर भाई मेरे गाँव में सबने कहा कि आप कहा था प्रयाग ने कहा कि खत्म हो गया खत्म हो गया मेरा उनका मरना बिगड़ना है क्या देखिए आप अल्लाह का बिगाड़ मेरा उनका मरना गुजर हैं विचार निगाह नहीं और इजाजत है और ये हदीस है शेर में नहीं है फरिश्तों इस नमाजी को देख रहे हो ये नमाज तो पढ़ रहा है मगर वो जल होकर नमाज पढ़ रहा है फरिश्ते दूसरे चिंता करे कहा ये दसवीं गुनाहों की पीठ करके उठा लो ताकि हल्का होकर नमाज पढ़ खाली लोग जब नमाज पढ़ दूंगा तो फरिश्ते उन्हें फट हवाले नहीं कर दिया अब खुदा का इंतजार कर रहे हो कि कुछ खुदा करे जब कुछ नहीं कहा तो बंदर दुआ अर्जा करे कहा पहले तुम्हारी हमारी हमारी आदत तुम्हें नहीं मालूम परवरदिगार बेटा हम जो चीज ले लेते हैं उसे वापस करते हुए शर्म आ जाते सुनिए तो जान आई थी जश्न खोल लो जो आज उसका मुजाही के देखा जश्न खोल लो तो बड़े वह तो हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, और माफ भी करते और मोहब्बत का भी इजार करते फिर मानता आया फिर मानता आया शुरू में आया और फिर आ रहा है कानपुर भी इसमें जहाँ खत्म हो रहा है भगवान का खैर उन्हीं और तू माफ करने वालों में सबसे बढ़ चढ़ते के है ये बढ़ चढ़ के नहीं सुन लीजिए हमारे हजूर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नाजिम की आंख से आंसू नहीं बहा और अभी कलमात नदामत की अदा नहीं हुए उससे पहले अल्लाह ताला उसे बख देता है हम्म? आंख से आंसू नहीं बचा और लफ्ज से पैदा नहीं हुए तो वो सुन लीजिए मामला खत्म होता अल्लाह ने हम लिखते हैं कि तो मूसा सलाम की आई और कहा कि मूसा आपको करीब दो साल हो गए हैं गंगा भी खत्म हो गया भूख से पेट की ठीक हो गया है वरना पूरी कौन मर जाएगी मैदान में लिखिए जाए है कि कहाँ कमा सकते हैं इधर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं उधर हुक्म होता है मत दुआ करो नहीं भूल तो करेंगे ये है अल्लाह की बेनयाबी नतीजत तो सीधे करना ये उसकी भी बेनियादी है असल चिंता के तो क्या हैं गए हम खाने पिक्चर गुजरी परवरदिगार तेरी मर्जी ये मजहब अली खानी फिर तो मूसा सलाम से कोई गलती नहीं समझी परवरदिगार ये बता दो कि वजह क्या है ताकि मैं बता दूं आने वालों को अपनी उम्र जहां वजह समझो तेरी उम्मत में तेरी उम्मतियों में एक शख्स ऐसा है जो चालीस बरस से गुनाह एक ही गुनाह से हरा हुआ गुनाहों में नहीं एक ही गोदा ठहरा हुआ है जब तक वो नहीं निकले बारिश नहीं होगी परवरदिगा के सवाल हो ये इतने लाखों लोग हैं ये मेरी आवाज उन तक कैसे पहुंचेगी कहा मूसा तुम एक बात भूल गए आवाज निकालना तुम्हारा काम है पहुंचाना हमारा काम तुम अपना काम करो हम अपना काम करो हाँ, अब सुनिए ये अपना काम है सबसे तलब दराज रखें क्या तू दूसरा खुदा हो गया है अरे जो वो चाहे उसे हो लगे फिर जो तू चाहेगा वो होने लगे हाँ, हाँ, हाँ। जब तो बैठा हूँ रात्रि भगवती या सोकर कोई लाकर दिया जा रहा तुरंत सूरत सवाल है हजरत मूसा की उम्र से उनका भाइयों मैंने हाथ उठाया था खिताब हुआ तो मसला करो मूसा हम नहीं सुनेंगे जब तक वो बाकी नहीं निकले जो चाहिए मेरा चढ़ा हुआ है बारिश नहीं होगी वो बाकी भी सुन रहा था इसलिए कि अल्लाह ताला ने पैगाम पहुंचाने का जिम्मा ले लिया था उसने कहा कि मौला अगर अब मैं हाथ उठाता हूँ तो सब जान जाएंगे कि नहीं पाती हूँ और अगर रोता हूँ तो सब जान जाएंगे कि नहीं पाती हूँ क्या ये मुमकिन नहीं है कि मैं दिल में इतराब करूँ और मुझे माफ कर दे बारिश होगी अल्लाह ताला ने तो ये कहा था कि जब तक वो पापी नहीं निकलेगा गुनाह नहीं होगा वो बारिश नहीं होगी न कोई निकलता हुआ दिखाओ बारिश शुरू हो गई और चीजें इकलाजियत है और दोहराते रहिए अपने ख्याल में सलाम आलम हैरानी में खड़े हैं परवरदिगार मूर्ता की हाथ में गलती कर सकती है नहीं एक शक्ति मुमकिन है कि वो निकल गया हो मंदिर में नजर न आया हो जो इस भैरव को खोले कहा आपके मुंह था आदमी तो यही मौजूद है फिर तेलों के लिए कहा था तो जब तक वो आदमी नहीं निकलेगा बारिश नहीं होगी और मूसा हमारी आदत को अब सुन लो कि जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी आज बारिश भी उसी की वजह से हो रही है निकाल देता मुझे मशर में मेरी सर्दी इतनी होकर लिखा ये बात है मजहब में मेरी फर्ज इस यहाँ पर जो वो बंदा है जिस पर नाज करता है कर्म मेरा लिखा ये बात है मजहब में मेरी फर्ज इस यहाँ पर ये वो बंदा है जिस पर नाज करता है कर्म मेरा अब इससे की किलानी सुन लीजिए परवरदिदा फिर उस खुश नसीब बंदे को दिखा कि जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी और जिसकी वजह से बारिश होने लगी अरे बेटा तो तुम्हें हमारी आदत का पता नहीं है हम सत्तार है दूसरों को रोकते हैं कि वो बड़ी देरी न करे देरी न करे तो हम खुद कैसे अतिथि हो जाएंगे लिहाजा नहीं बता सकते तो तमाम मूसा सलाम को ये पता नहीं कर सकता कि वो कौन पापी था जिसकी वजह से बारिश टूटी हुई थी और फिर वो दिन में शर्मिंदा हुआ और बारिश होने लगी वो कौन था कि जिसको अल्लाह तला ने करीब कर लिया आखिर में इस बात पर आंसुओं पर बात खत्म होती है जहरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवत के किनारे पर फरमाया में खड़ा हुआ कांप रहा हूँ यहाँ तो आमार की वजह से निडर है हजूर कांप रहे होंगे और अपनी यहाँ नहीं और देवत के शोले आसमान से बातें कर रहे होंगे हबीब की घबराहट और बेचैनी अल्लाह से कैसे देखी जाएगी अर्थ जिबरी राजा यहूदी बयान करवा रहे हैं उनके पीठ पे एक नफर होगी छोटी सी अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु तुम्हारी घबराहट इन शोरों से है जो आसमान से बातें कर रहे हो इन थोड़ा सा पानी लेके छिड़क दो तो मैं जिबरी से हैरानी से पूछूंगा जिबरील मेरा तो ख्याल ये है कि सारी मटर भी अगर उन्हें दी जाए तो इस क्या नाम शोलों का कुछ बात बीता नहीं होगा बिगड़ेंगे नहीं बैठेंगे नहीं और एक पैगाम और भी है उसके साथ कहीं ऐसा न करना कि ये पूरी मटर खोल के और छिड़क दो तो पूरी जहन्नम सर्द हो जाएगी मैं घबरा के पूछूंगा फिर इसमें लाल तो जीवन कहेंगे तुम्हारे उम्मत के नदामत के आंसू भर कर लाया हूँ चंद्रांसू तेरी सरकार में भी आने के हो जो मकबूल तो दरिया तेरे मैं खाने चंद्रांसू तेरी सरकार में भी आने के हो जो मकबूल तो दरिया तेरे मैं खाने के ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी आज ये दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु के सत्य में मुहदीन मुकरबीन के सत्य में हर मुसलमान को नूर ईमान सोने के जिसमानी अपने हलाल सत्य मकान अदा फरमाए बेरोजगारों को रोजी अदा फरमाए गुनाहगारों को तौबा की तौफीक अदा फरमाए मुसीबतों की मुसीबत आसान हो जो औलाद को साले औलाद अदा फरमाए या अल्लाह तस्की हमारी जिस घर में फंसी हुई है तो सुबह सदर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल दो अहमद मुख्तार का है वास्ता हैदर कर्रार का है वास्ता वास्ता अहबाब का असाब का वास्ता है उस रति के वार का और मजहर पाती लगाए आस है और नजर है जो कुछ भी उसके पास है मोहम्मद वाल ही साहब ही रजूल्ला की ही महीन रहमत